और लोगों में हज की मनादी कर दे लोग तेरे पास पाप्यादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दराज के तमाम राहों से आएंगे